और ए पैगंबर अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम्हारे शामले हाल न होती तो उनमें से एक गिरोह ने तो तुमको सीधी राह से भटकाने का इरादा कर ही लिया था और दरहकीकत ये अपने सिवा किसी को नहीं भटका रहे हैं और ये तुमको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है और तुमको उन बातों का इल्म दिया है जो तुम नहीं जानते थे اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے